ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਾਧਨਾ باسمك العظيم الفاتح ونضع برغم جديد Я хочу нести сердце, я хочу тебя как король, лучше, а вас. God. मौजूद व्यापार खाता है जेको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जेको यानी जो मक़सदु आहे मुल्क में हिकु सेमीकंडक्टर सिस्टम खे बर्पा करण जे अलावा हिन इको सिस्टम खे ॾेखारण जंहिंसां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जी मैन्युफैक्चरिंग ऐं डिज़ाइन में आलमी मर्कज़ थी करे उभरी ईंदो हिन जी अगुवाई करे रहिया आहिनि आलमी माहिर इहो मिशन सेमीकंडक्टर्स खे तयारु करण लाइ ऐं सिस्टम के मुख्य की ಅತ್ಯಧಿಕಣಗಳ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಿಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನು ಘನ ಗುಜರಾತ ಘನ ಗೋಳರ ಘನ ಅದಿಪ शामिल है ये मिशन मिशन का मकसद है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के तैयार करना इसके अलावा सेमीकंडक्टर की भरोसेमंद सप्लाई चेन की तैयार करना इनमें क्या है कि कच्चा सामान gaz tejabi gazg'o dagovorlar o'zlari shunga ilova भारतीय सेमीकंडक्टर हुनरजी वाद लाए लाजमी माहौल हर्बल हिमायतें इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन એના इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बचाने पहनावा हाउस टेक्नोलॉजी थे रायपुर कहा भारतीय सेमीकंडक्टर हुनर अति अभिरुचि मर आलम में एक अग्रति करे कुर्सी की नौकरी थी यूरेशन एक मॉडल एजेंसी के काम कर रहा है जो मेघालय रिसर्च मंजूरी के लिए में से एजेंसी इंडिया प्रोग्राम का है ಜಿಂದಗಿರಿ ದರಖಾಸ್ತು ಜಿಂಜಿ ಕಥಪಣ ಕೈಪಿದೆ भारत एक समकाल इंडिया प्रोग्राम की मंजूरी हुई है तभी में बजट रखी हुई है छिहत्तर हजार करोड़ रुपये की जिन सेमी कंडक्टर उसके इकोसिस्टम के उदाहरण है समकाल प्रोग्राम तहत प्रोग्राम की राजधानी नहीं है जो करे silicon semiconductor fabs, display fabs, compound semiconductors, silicon photonics, sensor, इन्हीं समस्या के ऊपर करें सिलापन के पैदावार की बढ़ाएं हाँ, यूरेशियन जो बहुत बिजी अटोनोमी इनकम के हथिनिंदो वधवानिंदो इन अलावा खोजना तजारत तो का मारे चोरी तो इनको ध्यान दो తర్వాత భారత్ చిప్ మేकिंग में एक मरकज की तरफ हुई ना भारत जी सेमी कंडक्टर हुनर में पूरा भरजा सेवकारों की सेवा कर रहा अन्य इन्वेटिंग कंपनी जो कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस जरिए भारत जी बेंगलुरु में रिकवरिंग वाली आर एंड यानी कि खोज में तरक्की प्रोग्राम में चार सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर सेव करना लगभग दो हजार इंजीनियर्स के रोजगार मिलेगा भारत में को पैकेजिंग आधार पर टेक्नोलॉजी सोची रहा है क्षेत्र में शामिल होगी इसके अलावा सिंटेक एंड लिक्विडी कंपनी पर भारत में सेब का जो चार पद रुपये हुआ है दूसरी कंपनी जिसको जिका के सिलिकॉन वेफर टूल्स तैयार कर दिए गए पर भारत में बुनियाद बर्पा करने की चाप दिखा रहा है इंसान भारत सेमी कंडक्टर हुनर से हथेली दे रही है भारत जी टाटा ग्रुप हाँ। गुजरात में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बर्पा करने की सोच रही है ऐं उहा ताइवान जे पावर चिप सेमीकंडक्टर सां कमु कंदी टाटा कंपनी जो है एक इकानवे संसार के रूप में इसे लगता है जो जंहिंमें पंजाह हज़ार वेफर स्टार्ट पर मंथ पैदा कया वेंदा करतो असन्ना इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो जाण आता असांजे मडगांव में सेमीकंडक्टर यूनिट खे बर्पा कयो वियो जंहिंमें लॻभॻि सतावीह हज़ार करोड़ रुपियनि जी सीड़प लॻी अगरि घटि वक़्त जे अंदरि भारत जी सेमीकंडक्टर हेठा स्कीम तमामु वॾियूं कंपनियुनि खे पाण लाइ कशिश कराए रही आहे हिन जे मुताबिक़ इन सां homecoming को मजबूत सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बर्पा थींदो जंहिंसां चीन ऐं ताइवान जी हिकु अटी ख़तमु थींदी इहो चवण आहे त यूनिवर्सिटी बर्पा थियण सां घटि में घटि सुबुह सुबुह वीह हज़ार रोज़गार जा वजह पैदा थींदा सद जदीद टेक्नोलॉजी के लगभग अठ सौ सठ हज़ार रोज़गार पैदा थींदा आप कौशिक राय जी लिख लेते हैं फिर जो संगीत दर्शकों को आकाशवाणी जी संगीत सरसा है आकाशवाणी जी संगीत सर्विस एक हजार इकहत्तर सत्तर हजार अठारह सौ अस्सी किलोमीटर से बुध रहा है आकाशवाणी जी संगीत service Amen. This is Akashwani. The news read by Abhi.